हर्षित ने अपना सिर हिलाते हुए कहा मैं तो पहली बार इसका नाम सुन रहा हूँ ये टेस्टी है कि नहीं मुंबई में भी हॉट पॉट चिकन मिलता है लेकिन ये थोड़ा डिफरेंट है विक्रांत ने मेन्यू में अपना नजर फेरते हुए कहा हम लोगों के यहाँ तो बहुत स्पाइसी बनाते हैं अब यहाँ देखो कैसा होता है ये यहाँ का स्पेशल हॉट पॉट चिकन है हर्ष ने तुरंत ही विक्रांत के हाथों में मेनू कार्ड लेकर उसे देखते हुए कहा इनका ट्रेडिशनल तरीका होता है इसे पकाने का इस तरह का चिकन ज्यादातर नॉर्थ इंडिया में देखने को मिलता है वो लोग मिट्टी के पॉट में रखकर इसे पकाते हैं लेकिन वहाँ मिट्टी के पॉट में चिकन नहीं बल्कि मीट पकाते हैं तो मुझे लग रहा है कि ये हॉटपॉट चिकन कुछ उसी तरह बनेगा तो ये स्पाइसी होगा कि नहीं हर्षित ने सवाल किया सर हम लोगों में चिकन को मसाले के साथ मिक्स करके मिट्टी के पॉट में करके कोयले के बीच डाल देते हैं वहाँ पर यह धीमी धीमे पकता है स्पाइसी काफ़ी होता है आप लोग ट्राई कीजिएगा हमारे यहाँ के बहुत फेमस है रेस्टोरेंट के वेटर ने कहा इस रेस्टोरेंट का नाम ही था hotpot zero three one seven Vikrant बड़े ध्यान से इस रेस्टोरेंट का नाम याद करते हुए उसके लोकेशन को अपने मैप से मैच करने की कोशिश कर रहा था डुप्लीकेट टास्क रात में तकरीबन आठ बजकर पंद्रह मिनट पर होने वाला था ऐसे में अभी डुप्लीकेट टास्क शुरू होने में पर्याप्त टाइम बचा हुआ था उतनी देर में तो विक्रांत आराम से अपना डिनर खत्म कर सकता था ठीक है मेरे लिए एक हॉट पॉट चिकन और यार आप लोग वाइन भी सर्व करते हो ना तो प्लीज वाइन भी ला देना विक्रांत ने वेटर को इशारा करते हुए कहा सर विक्रांत को यूं वाइन ऑर्डर करते देख हर्ष उससे कुछ कहना चाहता था लेकिन वो कुछ कह नहीं सका क्या विक्रांत ने अपनी भवें टेढ़ी करते हुए कहा तुम मत पीने लग जाना अभी तुम्हें ड्राइव करना है सर प्लीज मैं पूरे दिन काम कर रहा था कल रात को भी मैं हॉस्पिटल में बैठकर बासु को देख रहा था सोना भी नहीं मिला हर्ष ने विक्रांत से कंप्लेंट करते हुए कहा उसने फिर अनुष्का की तरफ इशारा करते हुए कहा अनुष्का ड्राइव कर लेगी ना वो ड्रिंक भी नहीं करती उसको कोई प्रॉब्लम भी नहीं है वो आराम से ड्राइव कर सकती है प्लीज उसको बोल देते हैं कि वो ड्राइव कर लेगी नहीं मैं नहीं करूंगी अनुष्का ने तुरंत ही हर्ष को मना कर दिया हर्ष फील्ड की ड्यूटी करना तुम्हारा काम है मैं तो साइकोलॉजिस्ट हूँ और मेरा काम ऑफिस का है मैं ड्राइव नहीं करूंगी हर्षित ने भी कोल्ड ड्रिंक का एक सिप लेते हुए कहा मेरा तो ड्राइविंग लाइसेंस ही नहीं बना है मैं भला कैसे हाईवे पर ड्राइव करूंगा वाह शाबाश हर्ष ने उन दोनों को मिडिल फिंगर दिखाते हुए कहा इस वक्त ये लोग जिस रेस्टोरेंट में बैठे हुए थे वो मेन हाईवे से सटे हुए सर्विस रोड के बगल में ही था रेस्टोरेंट काफी अच्छा था यहाँ की सर्विस भी काफी अच्छी थी लेकिन फिर भी इसमें ज्यादा भीड़ नहीं थी पूरे रेस्टोरेंट में महज तीन या चार लोग ही खाने के लिए बैठे हुए थे ऐसे में पूरे रेस्टोरेंट में बिल्कुल सन्नाटा पसरा हुआ था यहाँ पर सिर्फ विक्रांत और उसकी टीम के मेंबर्स की ही आवाज गूंजती सुनाई दे रही थी थोड़ी ही देर में हॉटस्पॉट चिकन को मिट्टी के ही बर्तन में रखकर उसके नीचे एक छोटा टॉय स्टोव लगाकर सर्व कर दिया गया वेटर ने ये चिकन सर्व करने के साथ ही इस स्टोव को जला दिया ताकि उसका खाना गर्म बना रहे सर अनुष्का ने विक्रांत से कहा आप डीसीपी डिसूजा साहब की पीली डायरी वाले केस को पढ़ रहे थे ना तो आपने उस डायरी के सारे केसेस पढ़ लिए डिसूजा साहब की डायरी उसके बारे में तुम्हें कैसे पता चला विक्रांत ने चौंकते हुए सवाल किया अरे सर डिसूजा साहब भी सेंट्रल सीआईडी की स्पेशल टीम में काम कर चुके हैं और उन्हें यहाँ सब जानते हैं सर वो तो मेरे आइडल है मुझे भला उनकी डायरी के बारे में कैसे नहीं पता रहेगा वो अपनी पीली डायरी में उन सभी केसेस की डिटेल रखते थे जिसे वो खुद कभी सॉल्व नहीं कर पाए थे हाँ हाँ वो तो ठीक है लेकिन तुम्हें ही कैसे पता है कि मैं डिसूजा साहब की डायरी वाले केसेस के बारे में पढ़ रहा हूँ विक्रांत ने बिल्कुल अवाक होते हुए अनुष्का से सवाल किया अरे सर आप भी हम लोग त्रिवेंद्रम आने के पहले तो गाजियाबाद के लिए निकल रहे थे ना और गाजियाबाद में भी एक पेंडिंग केस पड़ा हुआ है जिसके बारे में डिसूजा साहब की पीली डायरी में लिखा गया है अनुष्का ने अपनी आंखें बड़ी करते हुए कहा हाँ, हाँ वो तो ठीक है लेकिन तुम्हें कैसे पता चला कि मैं डिसूजा साहब की पीली डायरी का केस पढ़ रहा हूँ विक्रांत ने फिर थोड़े सख्त लहजे में बोलते हुए अनुष्का से कहा अरे सर आप भी ना कमाल करते हैं खुद ही तो बताया था आपने जब हम लोग गाजियाबाद के लिए निकल रहे थे अनुष्का ने विक्रांत को अजीब सी नजरों से देखते हुए कहा अच्छा हाँ अब जाकर विक्रांत को याद आया कि उस दिन जब वो इन लोगों के साथ गाड़ी से गाजियाबाद के लिए निकल रहे थे तब उसने खुद ही डिसूजा साहब की येलो नोटबुक के बारे में इन लोगों को सब कुछ बताया था सर उसमें टोटल पांच केस थे ना जिसमें से हमें तीन देखना है अनुष्का ने विक्रांत से एक सवाल किया हम्म हम लोग उसी के लिए तो गाजियाबाद जा रहे थे विक्रांत ने अपना सिर हिलाते हुए कहा गाजियाबाद वाला केस तो बहुत अजीब है पता नहीं कैसे हम लोग उसे सॉल्व करेंगे जैसे अब तक सभी केस सॉल्व करते आए हैं वैसे ही वो केस भी सॉल्व हो जाएगा विक्रांत ने कहा हम्म वो तो है लेकिन सर एक साथ नौ लोगों का मर्डर वो भी सेम तरीके से मुझे तो लग रहा है कि फिर से हम लोगों का सामना किसी साइको से होने वाला है हर्षित ने बीच में ही बोलते हुए कहा ये लोग आपस में बातें करते हुए खाने का भी लुत्फ उठाए जा रहे थे वाकई में इस रेस्टोरेंट में जो हॉट पॉट चिकन सर्व किया गया था वो काफी टेस्टी था विक्रांत के साथ ही हर्ष अनुष्का हर्षित को भी इस हॉट पॉट चिकन का टेस्ट काफी पसंद आया था भड़ाम अब ये लोग शांति से डिनर कर ही रहे थे कि अचानक से दरवाजे पर जोर की आवाज सुनाई पड़ी विक्रांत ने अपना सिर उठाकर देखा तो पता लगा कि वहां पर दो लोग आपस में बातें करते हुए रेस्टोरेंट के भीतर बड़े चले आ रहे थे उनमें से एक की उम्र तकरीबन चालीस साल के करीब रही होगी और उसने सूट पहन रखा था देखने में वो काफी अच्छी फैमिली से और रिच लग रहा था भले ही उम्र तकरीबन चालीस की रही होगी लेकिन उसकी पर्सनैलिटी और उसका पहनावा देख ऐसा लग रहा था कि मानो उसकी उम्र तीस साल से ज्यादा नहीं होगी उस आदमी के साथ एक और भी शख्स था जो कि उससे उम्र में काफी छोटा दिख रहा था और शायद ये दूसरा वाला शख्स उसका जूनियर ही था रेस्टोरेंट में घुसने के बाद वो दोनों सीधे ही कॉर्नर में पड़ी एक टेबल पर जाकर बैठ गए जो छोटी उम्र वाला शख्स था उसने तुरंत ही वेटर को बुलाकर हॉट पॉट चिकन का ऑर्डर दे दिया